ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग और ये तो आशा भोसले के गाये हुए सबसे प्यारे गीतों में शामिल है खैर बहनों भाइयों मैंने आपको बताया था कि जब कई बड़े सीनियर संगीतकार एक डेलीगेशन के रूप में गीतमाला के स्पॉन्सर से और मुझसे मिले और वो लोग पूरी जांच पड़ताल के बाद मान गए कि गीतमाला की लिस्टें बिल्कुल सही और सच्ची होती हैं उनमें कोई हेरा फेरी नहीं होती तो हमने भी तय किया कि उन गुरुजनों का दिल रखने के लिए हम कुछ जरूर करेंगे तो एक काम हमने ये तय किया कि कुछ महीनों तक हम संगीत चिड़ी और पायदानों का सिलसिला तो बिल्कुल उसी तरह चलाएंगे लेकिन हफ्तावार प्रोग्रामों में पायदानों के 16 से लेकर एक वाले नंबर जो थे वो नहीं अनाउंस करेंगे मगर साहब कुछ अरसे के बाद ये तरीका नए सुनने वालों को चक्कर में डालने लगा इसलिए मैंने राय ये दी कि चूंकि वो सभी सीनियर शिकायती संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री के थे ना तो क्यों ना हम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसरों को हर हफ्ते जज के रूप में इनवाइट करें ताकि वो गीतमाला की हर लिस्ट जांचें उन पर सिग्नेचर करें और हम फिल्म इंडस्ट्री के पूरे सहयोग पूरे कोऑपरेशन के साथ पायदानों के नंबर अनाउंस करना फिर से शुरू कर दें तो ये बात Indian motion picture producers association यानी इम्पा के लोग मान गए और एक के बाद एक गीतमाला के चुनाव के जज के रूप में आए कौन <laughs> भाई अभी बताता हूँ आपको पहले आइए एक और गजब के छाओ वाले गीत का दिया जलाए जला कौन मेरी तन्हाई दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तनहा लिखा मैं खोल रही हूँ बोल वही जैसे के बोल रही हूँ छुपी हुई ये धुन भी एक ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर की थी चित्रगुप्त जिनके सुरों का उजाला उन दिनों कई फिल्मों में फैला खैर साहब अब ये सुनिए कि गीतमाला के क्रम के सिलेक्शन के जज की हैसियत से सबसे पहले आए मशहूर producer Shri G P Sippy जिन्होंने आकर एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया साहब कि देखिए कई अच्छे गीत शायद इसलिए गीतमाला में दाखिल नहीं हो पाते क्योंकि उनसे पहले आए हुए कई सुपरहिट गीत हफ्तावार पायदानों पर आकर ऐसे जम जाते हैं कि फिर जाने का नाम ही नहीं लेते तो आप ऐसा कीजिए कि गीत चाहे कितना भी पॉपुलर क्यों न हो अब से उसकी एक लिमिट रख दीजिए जैसे 18 हफ्ते और अगर कोई गीत 18 हफ्तों तक बच जाए तो उसे रिटायर कर दीजिए सारे गामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है पाँच हजार सुनहरे गाने और कुछ यादें तो भाई हमने शुरू कर दिया ये तरीका जिसका जिक्र आप अनिल भार्गव की किताब गीतमाला का सुरीला सफर में भी पाएंगे बस गीत जैसे ही अठारहवीं बार गीतमाला में बचता तो हम उसे सरताज गीत का टाइटल देकर रिटायर करते हुए उसके लिए ऐसा सा बिगुल बजाते और रिटायर होने तक जो मार्क्स उस गीत ने पाए होते वही मार्क्स एनुअल प्रोग्राम में गिने जाते बहरहाल गिनती के मुताबिक उस साल नंबर आठ पर था फिल्म जानवर का गीत तुमसे अच्छा कौन है दिल जिगर लो जान लो हम तुम्हारे हैं सनम तुम हमें पहचान लो और तुमसे अच्छा कौन है दिल जिगर लो जान लो हम तुम्हारे हैं सनम तुम हमें पहचान लो और नंबर सात पर कौन आया देखिए अब उस साल की पायदान नंबर छह ने हमें पहुंचा दिया हिमालय की गोद में और हमें सुनाया एक और लाजवाब गीत जो होना चाहिए था पायदान नंबर एक के आसपास तो पिछले वॉल्यूम में हमने सिने म्यूजिक डायरेक्टर्स की ओर से best song of the year चुने जाने वाले इसी फिल्म के गीत मैं तो एक ख्वाब हूं के सिलसिले में आपको कई मशहूर फिल्मी हस्तियों की आवाजें सुनवाई थी याद है ना आपको आज सुनिए इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स यानी कल्याण जी आनंद जी के बारे में एक और फंक्शन में कही हुई अदाकारी के शहनशाह दिलीप कुमार की बात दिलीप साहब <laughs> यानी यूसुफ खान साहब की उर्दू जबान जरा गाढ़ी हुआ करती है बहनों भाइयों मगर उनकी बात हमेशा शानदार होती है सुनिए कल्याण जी भाई आनंद जी भाई हम सिर्फ तो दोस्त हैं आपके भाई हैं हम खुश हैं लेकिन हमारे मुल्क का कल्चर जो है वो आपका एहसानमंद है क्योंकि उस कल्चर को आपने बरकरार रखने की कोशिश की है इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं और बहुत से अजीम शख्सियतें जो आजकल बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुकी हैं मौसीकी के वो इनके करीब इनकी महफिल के मुसाहिब बन कर रहे हैं तो एक तरह की इन दोनों भाइयों ने एक खूबसूरत सल्तनत कायम की थी इंसानियत की मैं अपने आप को इस बात में खुशनसीब समझता हूं कि उस सल्तनत और उस दरबार में एक मुसाहिब बनकर बैठने का एजाज मुझको भी मिला है अच्छा उसी साल सालाना पायदान नंबर पांच पर था फिल्म खानदान का मंदिर तुम्हें कि तुम मेरे क्या हो कि तुम मेरे क्या और गीत नंबर चार था जानवर का लाल खड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी हम दिल से गए हम जहाँ से गए बस आंख मिली और बात बढ़ी लाल खड़ी मैदान खड़ी और अब साहब 1965 की ऊपर वाली तीन टॉप पायदानों की झलकों से पहले मैं आपको फिर एक बार ले चलूंगा गीत माला की छाव में और यहाँ हमारे सामने होगा महान संगीतकार अनिल विश्वास का आखिरी जलवा कुछ और जमाना कहता है कुछ और है जिद मेरे दिल की मैं बात माने की मानू या बात सुनू अपने दिल की कुछ और जमाना कहता कहता है कुछ और है जिद मेरे दिल की मैं बात समाने की मायू या बात सुनू अपने दिल की कुछ और जमाना कहता है ये आवाज थी अनिल विश्वास की सुरीली पत्नी मीना कपूर की और फिल्म थी छोटी छोटी बातें मगर एक और बड़ी बात उस फिल्म की ये थी कि उसे डायरेक्ट किया था फिल्मी दुनिया के एक अजीम अदाकार मोतीलाल ने जिनकी नेचुरल एक्टिंग की बुलंदी तक बहनों भाइयों मेरा ख्याल है बहुत कम एक्टर्स आज तक पहुंच पाए हैं अब इतफाक देखिए कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही मोतीलाल जी इस दुनिया से चल बसे और फिर फिल्म के टाइटल्स के लिए मोतीलाल की मौत पर एक दर्द भरा गीत बना जो उनके रिश्तेदार उनके कजिन मुकेश साहब ने गम के सुरों में डूब कर पेश किया जिंदगी खाब है था हमें भी पता पर हमें जिंदगी प्यार था सुख बि थे दुख बि थे दिल को हुई चाहे जैसा रंगीं शिकायत लबों तक मगर किसे कहते तो क्या कहना बेकार था चल पड़े दर्द पी कर कुतलते रहे हार कर बैठ जाने से इनकार था चंद दिन था बसेरा भी मेहमान थे घर तो उस पार था हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था अलविदा मोतीलाल जी को रुखसत करके हमारे मुकेश भाई उस साल आशा और प्रेम की मशाल हाथ में लिए बढ़े आगे सारे गामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है पाँच हजार सुनहरे गाने और कुछ यादें और कदम रखा उस साल की पायदान नंबर तीन जोत से जोत जगाते चलो जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा को गले से लगाते चलूं प्रेम की गंगा बहाते चलूं ये गीत फिल्म संत ज्ञानेश्वर का था और इसके बाद बहनों भाइयों अब मैं आपको सुनाऊंगा एक फालतू फिल्म स्टार की आवाज इस फिल्म स्टार को मैं फालतू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर ने उसे फिल्म स्टार बनने ही नहीं दिया बस अनाउंसर ही बनाए रखा कौन था वो जरा पहचानिए Good evening, ladies and gentlemen. This is your friend and compere welcoming you all in this final night of competitions sponsored by the Beach Club. ए, हिंदी में बोल हिंदी में अच्छी बात है समुद्र तट गिरोह द्वारा आयोजित इस संगीत प्रतियोगिता में अबे ऐसी हिंदी बोल के कुछ समझ में आवे भाई बात यह कि संगीत का जो कॉम्पिटिशन चल रहा है ये तो आप जानते ही हैं कि बीच क्लब ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और आज इस कंपटीशन की आखिरी रात है जी हाँ बनो भाइयों उस फिल्म के म्यूजिक कंपटीशन का अनाउंसर मैं ही था और वो फिल्म थी भूत बंगला जिसका म्यूजिक कंपटीशन जीतने वाले गीत ने उस साल की एनुअल गीतमाला हिट परेड में पायदान नंबर दो पर धूम मचाई आओ, ही आओ ट्विटरे का उठा मौसम आओ ट्वीट करे जिंदगी है यही और जो गीत उस साल नंबर एक पर बजा वो था फिल्म सहेली का ये गीत जिस दिल में बसा था प्यार तेरा उस दिल को कभी का तोड़ दिया हाय तोड़ दिया बदनाम न होने देंगे तुझे तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया हाय छोड़ दिया इस दिल में बसा था प्यार तेरा अब यहाँ संगीत माला के हिट गीतों के सिलेक्शन प्रोसेस की एक और पते की बात सुनिए फिल्म प्रोड्यूसर्स की संस्था के प्रेसिडेंट जीपी सिप्पी साहब ने गीतों को 18 बार संगीत सीढ़ी पर बचकर रिटायर करने की बात सुझाई और फिर फिल्म इंडस्ट्री के अपॉइंट किए हुए दो और मशहूर गीतमाला जजों यानी श्री बी आर चोपड़ा और श्री श्री राम बोहरा की राय पर हमने एक काम ये भी किया कि जिस साल में कोई गीत नौ से ज्यादा बार बजता था उसी साल में उसके मार्क्स एनुअल संगीत श्रेणी की गिनती में लिए जाते थे और इन तरीकों से अगर किसी टॉप गीत की उड़ान कट जाती थी तो उससे जुड़े हुए कुल नंबर अनाउंस करके उसे यानी उस गीत को वार्षिक संगीत सीढ़ी पर सिर्फ झलक के रूप में बजाया जाता था और 1965 में जिस जबरदस्त गीत की झलक साल के चोटी के गीत से बस जरा नीचे बजी वो अमर गीत था फिल्म दोस्ती का चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज अपने चाहने वाले गीतवाला प्रेमियों को आज भी यानी रेडियो प्रोग्राम गीतवाला खत्म हो जाने के बाद भी आवाज देता आ रहा हूँ और अब गीतमाला की छाव में मैं आपको सुनवाऊंगा 1965 के कुछ और बड़े ही शानदार गीत जो छाव में रह गए मगर सुनवाऊंगा सिर्फ उनकी झलकें क्योंकि आज टाइम बहुत कम है भाई ये गीत थे उन फिल्मों के जिनका एक भी गाना वार्षिक संगीत छिड़ी पर नहीं बजा प्यार की दासता तो कहे हेमंत कुमार की ये धुन फिल्म फरार में थी और अगली झलक सुनिए चांद और सूरज से बाग में कली खिली बगिया महकी पर हाय अभी किधर मुंबई मेरे रिकॉर्डिस्ट के वर्गीज जॉन ने मुझे बताया है कि सलीम चौधरी ने अपनी ये धुन मलयालम भाषा की सुपरहिट फिल्म चेमीन में भी दी थी और वहाँ वो धुन बहुत बहुत बहुत सुपरहिट हुई अच्छा भाई अगली झलक सुनिए फिल्म श्रीमान कंटूश से संगीत लक्ष्मी प्यारे का ये दर्द भरा अफसाना सुन ले अनजान जमान पागल प्रेमी मेरा दर्द न कोई जाना मैं हूँ एक पागल प्रेमी मेरा दर्द न कोई जाना ये दर्द भरा अफसाना सुन ले अनजान जमाना जमाना पागल प्रेमी मेरा दर्द न कोई जाना इनके अलावा गजल मदन मोहन की धुन में रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं ये मुरादों की हसीरात किसे पेश करूं किसे पेश करूं रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं किसे पेश करूं और फिल्म शहीद जिसके गीतकार और संगीतकार दोनों ही थे मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं मैं चला जाऊंगा मैं चला चलूं मैं चला जाऊंगा ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है शॉर्टवेव 25 मीटर बैंड में ग्यारह हजार नौ सौ पांच के रहर्ज और श्रीलंका में एक सौ सात दशमलव तीन एफ पर आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग